आत्मप्रयोगी वेद से देह से देह और देह से भिन्न अभी यहाँ कहा गया जैसे घट को देखने वाला घट से भिन्न होगा इसी प्रकार की जो देह को जानेगा वो देह से भिन्न होगा तो देह और देह से अतिरिक्त तद अतिरिक्त तद का अर्थ देह और देह अतिरिक्त तो देह अतिरिक्त आत्मत्व अपी ऐसा यहाँ पाठ कर रहे हैं देह और देह अतिरिक्त आत्मत्व देह से जो भिन्न है वो आत्मा है ये दोनों का बीच में भेद स्पष्ट नहीं हो रहा है हम देह से भिन्न है ऐसा सभी को ज्ञान रहता है तो ये बात यहाँ कहते हैं यहाँ थोड़ा इतना और लिख लेना पड़ेगा देह से तदतिरिक्त से आत्मस्वयोगी भेद से अस्पष्ट अस्पष्टत्व ये लिख सकते हैं भेद से अस्पष्टत्व

इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत तो दिया जा रहा है दृष्टांत किसको दिया घट और घट को देखने वाला तो यहाँ जो को हुआ देह और आत्मा इसमें तो भेद अस्पष्ट है किन्तु दृष्टांत जो है घट और घट को देखने वाला उसके लिए घट तद्रष्टोर भेद से व्याप्ति अति व्यक्ता अति व्यक्ता अति स्पष्टा घट और घट का दृष्टा ये दोनों परस्पर से भिन्न है ये जो व्याप्ति है ये स्पष्ट है ना कोई कठिनाई है इसमें स्पष्ट है तो घट से घट को देखने वाला भिन्न है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है किंतु देह से देह को जानने वाला भिन्न है इस प्रकार के स्पष्ट नहीं होता है इसलिए ये सब अज्ञान ये जगत ये सब संसार अगर घट से घट दृष्टा भिन्न है जितना स्पष्ट है देह से हम भिन्न है उतना स्पष्ट हो जाएगा तो फिर घट जब टूट जाता है घट दृष्टा बहुत आसक्त है तो दस रुपया घट के लिए रोएगा थोड़ा दस मिनट <laughs> तो अगर नहीं है तो कहेगा ठीक है टूट गया टूट गया दूसरा ले आएंगे तो इसी प्रकार की अगर उतना भेद स्पष्ट ज्ञान रहेगा कि हम भी देह से भिन्न है तो देह में मरने का समय आ गया था मर जाएगा मर जाएगा और मिलेगा इस प्रकार की सोचते इंद्र स्मरण वेद स्पष्ट नहीं हो रहा है हम देगा नहीं है हम देगा से भिन्न है वेद स्पष्ट नहीं हो रहा है इसलिए घट टूटने से जैसे उसको कष्ट होता है इसी प्रकार देह मरने का समय आने से उसको दुख होता है तो किन्तु जिसको ये स्पष्ट रहेगा तो, तो उसको कोई दुख होने का बाद नहीं हो तो सोचेगा कि तो जब सब जाए चलो भाई तो इस श्लोक में दृष्टांत तो क्या दिया गया घट और घट दृष्टा ये परस्पर से भिन्न है दार्ष्टान्तिक देह आत्मा हाँ, ये परस्पर से भिन्न है दृष्टांत दिया जाता है दार्ष्टान्तिक को समझाने के लिए आगे कहते हैं अहम अपनी दृष्टित्वाद देहाद भिन्न घटात इव घटद्रष्टा इति घटात इव आगे तकार कर रहे हैं अहम अपनी दृष्टित्व मैं भी दृष्टा हूँ देह का दृष्टा दृष्टा अर्थ जानने वाला मैं देह को जान रहा तो अहम अपनी दृष्टित्व अर्थात दृष्टा होने से देहात भिन्न देह से भिन्न होगा ऐसे कहते हैं घटादि घटाद इव घट दृष्टा जैसे घट से घट दृष्टा भिन्न होता है इसी प्रकार की मैं भी देह से भिन्न हूँ क्योंकि मैं भी दृष्टा हूँ तर्क दीजिए इसको कहते हैं युक्ति युक्ति से ये सब निश्चय करना है युक्ति जब लगाते हैं तो बुद्धि काम करती है बुद्धि काम करने से धीरे धीरे बुद्धि में सामर्थ्य बढ़ती है बुद्धि में सामर्थ्य बढ़ने से अंदर में जो संस्कार पड़ा हुआ है विपरीत संस्कार उसको निकालेगा बुद्धि कमजोर है तो संस्कार को निकालना नहीं पाएगा उसी गलती में उसी पाप में बार बार पछता रहेगा ये बुद्धि कमजोर का लक्षण है वही गलती करता रहेगा रोता भी रहेगा धीरे धीरे किंतु जब चलते हैं विवेक बढ़ाता है साधनों का समय करता है धीरे धीरे विवेक दृढ़ होने से बुद्धि दृढ़ हो जाएगी एक ही बार गलती करेगा और बुद्धि और दृढ़ हो जाएगा तो गलती करेगा ही नहीं उसे पहले ही दिख जाएगा दूसरों का गलती से सीख जाएगा तो गलती और नहीं करेगा बुद्धि कमजोर होने से बार बार वही गलती करता रहता है तो मैं भी दृष्टा हूँ इसलिए देह से भिन्न हूँ जैसे घटाद घट दृष्टा घटाद हम्म। घट दृष्टा प्रथम घट से जैसे घटद्रष्टा इति हनुमान आह श्लोक में कहा देखा घटद्रष्टा घटाद भिन्न इसी प्रकार की देह दृष्टा भी देह से भिन्न होगा तो ये सब संस्कार धीरे धीरे हम लोग का अंदर में दृढ़ होगा ये बार बार इसको सुनेंगे हम देव का दृष्टा है हम देव को जानने वाला है हम देव से भिन्न है इस प्रकार की बार बार सुनने से धीरे धीरे उसमें व्यथित तो नहीं होगा जो करना है उसको कर देगा ये जो कहते ना रोना पीटना होना वो नहीं होगा तो जो करना है कभी सोचेगा जान तो उसको कितना करेगा छूट भी दे सकता है बहुत ज्यादा आसक्ति होने से रोना पीटना होगा पहले तो वेदांत का यही लाभ है कि वेदांत रोना पीटना नहीं करेगा जो करना है कर सकता है और कभी मन होगा करना नहीं चाहिए तो जाने को सब क्या है तो फिर करेगा भी नहीं किंतु प्रथम लाभ इतना ही होगा परोक्ष ज्ञान भी वेदांत का होने से ये लाभ होगा कि उसका जीवन में ये जो रोना पीटना ही छूट जाएगा वो नहीं करेगा सब चीज को ग्रहण करेगा तो ऐसा ही होना है हाँ ना इसको ऐसा नहीं होना है थोड़ा बदलना है हैं हाँ, हम थोड़ा बदल जाएगा उसके पीछे किंतु उसको जो संसारी जैसा दुख होना रोना वो नहीं करेगा कैसे व्याप्ति प्रथम पंक्ति में टीका में दे दिया यो यद दृष्टा स तस्मात विद्यते जो जिसका दृष्टा है वो उससे भिन्न होता है तो यथा दृष्टांत दे दिया घट दृष्टा घटा ये दृष्टांत दे दिया व्याप्ति हो गया जैसे कहते हैं यो यो धूमवान स सीमान इसी प्रकार कहेंगे यो यद दृष्टा स तस्मात विद्यते तो जो जिसका दृष्टा होगा वो उससे भिन्न होगा ये नियम है अभी तो पहले सबसे स्थूल और शरीर को कहते हैं इसी प्रकार के आगे कहेंगे हम जानते हैं हमारा इंद्रिय कार्य करता है ये चक्षु से दिखता है सामने पदार्थ सामने पदार्थ दिखने से हम जान लेते हैं हमारा चक्षु कार्य करता है नहीं तो कैसे दिखा तो चक्षु कार्य करता है ये हम जानते हैं इसीलिए हम चक्षु से भिन्न है इसी प्रकार के आगे सब कहेंगे ये मन चलता है बहुत चलता है एकदम रुकता नहीं हम जानते हैं ना ये है कि हम उससे भिन्न है और ये बुद्धि कहते हैं बुद्धि अभी निर्णय नहीं ले पाती है बुद्धि तो एकदम तो निश्चय करके निर्णय ले लिए हैं हम जानते हैं बुद्धि तो ये सब अर्थात हम ये सबसे भिन्न है तो वेदांत का जितना जितना उसको निष्ठा होगा वो क्या करेगा तो मनो बहुत ज्यादा चलता है तो कहीं उसको चलना होगा हम क्या करेंगे तो रात भर नींद नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ क्या करेगा <laughs> तो ये चलेगा तो हम क्या कर पाएगा उसको तो चलेगा उसको तो संसार योजना से क्या होगा भागेगा फिरेगा दबाएगा वेदांत योजना से कहना नहीं नहीं मतलब तो रात में सोना चाहिए नहीं सोया नहीं सोया बोले दिन में दो घंटा सो जाएगा सो जाएगा क्या कैसेगा इस प्रकार तो किसी चीज में अर्थात ये जो भागा फिरे दौड़ दो दुख ये सब तो ये प्राथमिक तो लाभ होगा कि वो नहीं ये पंद्रह मास लोग उच्चारण करेंगे अभी हम देह से भिन्न हो गए अभी देह का अंदर में कौन आएगा देह का अंदर से इंद्रिय उसके अंदर में फिर मन उसके अंदर में मतलब इंद्रियों के साथ प्राण दिया जाएगा आगे मन आगे बुद्धि इस प्रकार एक एक करके दिखाएंगे अभी इंद्रिय दिखाते हैं इंद्रिय दृष्टित्वात नाहम इंद्रिया किंतु ते जो भिन्न देह द्रष्टु देहवदी अनुमान इंद्रिया अनात्मत्व आह इंद्रिय दृष्टित्वात इंद्रिय दृष्टित्व समाज कैसे कहेंगे अहम इंद्रिया इंद्रिय दृष्टित्व अहम इंद्रिय मम इंद्रिय दृष्टित्व इंद्रिय दृष्टित्व में क्या समझते हैं कैसा कहेंगे इंद्रिय दृष्टा है इसका हमारा इंद्रिय हमको देख लेगा ना इंद्रिय भ्रष्ट देख पाएगा तो कहते हैं कि इंद्रिय दृष्टा अहम हाँ? इंद्रिया नाम दृष्टा मैं इंद्रियों का दृष्टा इंद्रियों का दृष्टा अर्थात इंद्रिय अतिद्रिय और ऐसा दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ दृष्टा का अर्थ ज्ञाता जानने वाला तो इंद्रिय है कैसे जानते हैं इंद्रिय तो इंद्रिय से दिखेगा नहीं ये तो अनुमान करते हैं हमको शब्द सुनाई देता है हम अनुमान कर लेते हैं कि हमारा काम काम करता है नहीं नहीं तो क्या ये साइड मतलब ये साइड हो जाता है नीचे तो शब्द सुनता नहीं अनुमान क्या कर लेते हैं ये काम सुनता नहीं तो हम कैसे अनुमान कर लेते हैं ये ये कि हम जान लेते हैं को यहाँ दृष्टा का अर्थ जानना देखना खाली सर्वता नहीं है तो इंद्रिय दृष्टित्व इंद्रियों का दृष्टा है मैं इसलिए न अहम इंद्रियाणी मैं इंद्रिय नहीं क्यों कहते हैं किंतु तेभ्यो भिन्न तेभ्यो कहने से तेभ्यो भिन्न मैं इंद्रिय से भिन्न हूँ क्यों कहते हैं दृष्टान्त एक हो गया देह दृष्टा देहवत देह दृष्टु ष्ठी देहवत अर्थात देहात था देह दृष्टा देह से भिन्न है हम्म। तो इसी प्रकार की जो इंद्रिय का दृष्टा होगा वो इंद्रिय से भिन्न होगा पहले देह दृष्टा देह से भिन्न सिद्ध करने के लिए क्या दृष्टांत दिए घट दृष्टा घट से भिन्न बाहर का दृष्टांत दे करके सबसे थूल स्थूल अन्नमय कोष को सिद्ध कर दिए अभी अन्नमय कोष को दृष्टांत दे करके अंदर में प्राणमय कोष में चलेंगे इंद्रिय सब रहेंगे सुख में चलेंगे तो इसलिए अभी देह दृष्टु हो देहमद देह दृष्टु ष्ठी देहमद अर्थात देहादि हो जैसे देह दृष्टा देहा से भिन्न होगा इसी प्रकार की इंद्रिय दृष्टा से इंद्रिय दृष्टा ही इंद्रिय से भिन्न होगा इति अनुमान ये अनुमान होगा इंद्रिया नाम अनात्मत्व आह यहाँ अनुमान क्या हो गया दृष्टांत दे दिया देह दृष्टा देह से जैसे भिन्न ये दृष्टांत हो गया इंद्रिय दृष्टित्वाद अहम इंद्रियाणी न तो इसमें हेतु क्या है इंद्रिय दृष्टित्वाद हाँ, इंद्रिय दृष्टित्वाद ये हो गया हेतु क्या सिद्ध करना चाहते हैं हाँ, इंद्रियों से अहम इंद्रियाणी न तो अहम इंद्रियाणी न अर्थात अहम इंद्रिय भिन्न तो कहते हैं अहम इंद्रिय भिन्न इंद्रिय दृष्टित्व ये अनुमान है आग्रह अहम न इंद्रिया तो न इंद्रिया अगर इंद्रिय भिन्न क्यों हेतु क्या दे दिया इंद्रिय दृष्टांत किसको दे दिया देह द्रष्टु देह जैसे देह दृष्टा देह से भिन्न है इसी प्रकार की मैं इंद्रिया का दृष्टा होने से मैं इंद्रिया नहीं हूँ इस प्रकार की ऐसे युक्ति लगाया जाता है

अहम एवं अहम इंद्रिय इंद्रियग्रीन न इंद्रियाणी इति निश्चिनु तथा प्राणो मनो बुद्धिस न अहम इति अवधारय तथा प्राणो मनो बुद्धिस न अहम इति अवधारय न अहम इति अवधारय एवं एवं तो ना अनेक प्रकार वैसा जैसे देह दृष्टा देहा भिन्न देह को जो जानेगा वो देह से भिन्न होगा जैसे हुआ एवं अनेक प्रकार इस प्रकार अहम इंद्रिय दृंग इंद्रियम पश्यति इंद्रिय दृंग अहम इंद्रिय दृंग

वेदादिशु कहीं चात कहीं क्वीन होने से अभी वो क्वीन प्रत्यय हो गया क्वीन प्रत्यय का विग्रह क्या है क्वीन प्रत्यय जिससे क्वीन प्रत्यय होता है उसको क्वीन प्रत्यय कहा जाएगा तो अभी हो गया क्वीन प्रत्यय तो तीन प्रत्यय होने से अभी तीन प्रत्यय से कु हो जाएगा तो कु होने से दृश्य सकार सकार को हो जाएगा सकार को भ्रष्ट भ्रष्ट से हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा फिर मूर्धन्य को जलाभ्रष्ट से हो करके हो जाएगा ड होने के बाद ड हाँ, होगा को ड होगा आगे गो ड हो से कु करके ग हो जाएगा तो ग होने से आगे है न तो बकार तो फिर क्या ग कैसे हो जाएगा सोलह सूत्र क्या है ऐसे होकर के ड्रिंक हो गया तो को ग्रस्त हुआ जलाम होकर के ड हुआ कुल से कु होकर के ग हुआ तो होने के बाद फिर यरुनाशी जो करके हुआ तो इसको कहते हैं स ड का स ड क यहाँ क नहीं हुआ ग हो गया तो स ड का इंद्रिय एवं अहम इंद्रिय इसी प्रकार की मैं इंद्रियों को देखने वाला हूँ तो जो इंद्रियों को देखने वाला होगा वो इंद्रिय होगा तो इसलिए न हम इंद्रिया मैं इंद्रिय नहीं हूँ इसे निश्चित हूँ निश्चित हो गया धातु क्या होगा हो गया तो हुआ नहीं हुआ अच्छा। चयन धातु है धातु जो है स्नु तो ची के बोल में नु आ गया पूर्व में तो निश्च उपसर्ग हो गया निश्च आगे नु जैसे भुआदि में करते सब होता है जैसे स्वादि में स्नु होगा स्नु का बचेगा नु सची के पद में हो गया नु निश्चित नु मध्यम पुरुष एक वचन उसके पद में रहेगा ही शिव रहेगा से पीछे से ही हो जाएगा फिर ही का रूप कैसे हुआ जैसे श्रीणु ही वहाँ श्रीणु हो जाता है इस प्रकार के निश्चिन्ह ऐसे निश्चय करिए तो कह रहे हैं आचार्य कह रहे हैं शिष्य को कैसे निश्चय करो अर्थात हम इंद्रिय नहीं है इसलिए इंद्रिय खराब हो गया तो उसके लिए बहुत देर नहीं करना है हो गया हो गया भाई जितना प्रारंभ होता हम लोग का दृष्टि शक्ति ये खराब हो जाता है अगर खराब हो जाता है हो जाते हैं और किताब के पीछे लगाया जाता है और खराब हर साल बदलना पड़ता है तो खराब हो गया हो गया क्या करेगा तो हम इंद्रिया न ये करना इस प्रकार की निश्चय करो तो अभी पहले मैं देहा नहीं है ये निश्चय हो गया था अभी हो गया कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ तथा तो प्राण इस प्रकार की मैं प्राण नहीं हूँ ये प्राण मेरे से भिन्न है मैं प्राण को जान रहा हूँ प्राण अर्थात उसका कार्य शक्ति है भूख प्यास ये सब प्राण का ही लक्षण है तो जो जिसमें प्राण नहीं रहेगा मुद्दा हो जाएगा उसको सीधा प्यासा अनुभव होगा नहीं होगा ऐसे प्राण का कार्य है तथा तो प्राणों मनो बुद्धि न अहम प्राणो मनो बुद्धि में नहीं हूँ ये निश्चय करेगा तो मन जब बहुत भागेगा कभी तो पीड़ा देगा तो उस समय में अगर ये विचार एक बार उठेगा मन नहीं है ना वो जितना करता है कर दीजिए इतना ही अगर एक बार विचार उठ जाएगा देखेंगे वो जैसे मोटरसाइकिल चलाने वाला जानते हैं अगर बहुत जोर जा रहा है और छोड़ देगा जो ऐसा होता करते ना उसको छोड़ देगा ब्रेक लगाए नहीं खाली छोड़ देगा तो गति आधा हो जाएगा तो अभी ब्रेक नहीं लगाने पर भी आधा हो जाएगा अगर मन बहुत ऐसा कर रहा है सती जैसा तो ये विचार एक बार भी आ जाएगा नहीं है ना तो देखेंगे उसका गति आधा हो जाएगा तो आधा हो जाने के बाद फिर आप उसको तो कहीं थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो ये विचार एक बार उठ जाना चाहिए तो फिर एक बार उठेगा आगे जब हम वेदांत में लगे रहते हैं फिर ये बार बार उठेगा मानव संस्कार वर्ष पिछता रहेगा और ये बहुत बहुत घटता रहेगा फिर ये दोनों में लड़ाई होगा लड़ाई होकर के धीरे धीरे ये जो नया विवेक उठ रहा है ये बलवान होगा फिर और मन को धीरे धीरे और घिसने नहीं देगा तो मन फिर दूर से रह करके जैसा कहते ना कुत्ता भगा रहा था आप उसको लाठी दिखा दिए तो क्या करेगा दूर में खड़ा होकर के भूखेगा ऐसा वो मन करेगा तो फिर आगे वो चला जाएगा और भूखेगा नहीं जाने का इसका आदमी लाठी है ना उसी में चला जाएगा ऐसा ही मन का धर्म है अगर आप अगर भागते रहेंगे तो <laughs> पीछे पीछे होगा मन ऐसे इसलिए मन को बंदर कहते हैं तो बिल्कुल लाल बंदर जैसा उसका स्वभाव है मन का मनो बुद्धि प्राणस तथा उसी प्रकार की सब है अहम न एक इति अवधारय मैं नहीं हूँ ये मनोबुद्धि सब प्राण ये सब मैं नहीं हूँ इस प्रकार की निश्चय करो इसी के लिए बहुत सारे ध्यान धारणा इत्यादि सब अन्य अन्य मार्गों में बहुत ध्यान इत्यादि करते प्राण को देखते रहो चलता है जाता है आता है ये वेदांति लोग कहेंगे आप निश्चय करके जान लीजिए आप उससे अलग है उसके पीछे देखना उसको खड़े रहना कुत्ता भूखता है उसको खड़े होकर देखते रहो क्यों देखेगा वो अपना रास्ते में भूखता है उसको जाने दो हमको क्या है उससे तो वेदांत ये कैसा करेगा क्यों उसका पीछे पड़े रहना वो चलता उसका जैसे संस्कार ऐसे करेगा आप निश्चय हो जाने की हमसे ही अलग हो बस हम अपने रास्ता में रहना बुद्धि में विवेक युक्त होकर के इस प्रकार से निश्चय कर लेना कारण टीका में उक्त न्यायम अभी यहाँ कह दिया कि इंद्र इंद्रियों का दृष्टा होने से मैं इंद्रिय नहीं हूँ ये जो न्याय हो गया मनोबुद्धि अति दिशती मनोबुद्धि आदि में अतिदेश करते हैं अतिदेश का लक्षण होता है अन्यस्य धर्मस्य अन्यस्मिन आरोपण जैसे हम कहते हैं भरत जी कैसे है कहते हैं राम जी जैसे हुआ तो अभी राम जी का जो धर्म है वो भरत जी में अति अतिदेश कहते हैं तो अतिदेश अर्थात अतिक्रम्य देश राम जी का जो धर्म वो राम जी उसका देश है राम जी उसका स्थान है किंतु अभी हम उसको अतिक्रम करवा करके भरत जी में रख रहे हैं इसलिए कहते हैं अति देश अन्य से धर्म से अन्य आरोपण उसको तो अतिदेश कहते हैं तो एक तो दिखा दिए कि इंद्रिय दृष्टा इंद्रिय से भिन्न है अभी उस न्याय को अन्यत्र रख कहा मनोबुद्धि आदिशु अति दिशती अतिक्रम्य दिशती मनोबुद्धि भी इसी प्रकार के आगे ठीक है देह स्व व्यतिरिक्त दृष्टिक दृश्यवाद आगे बटा दी को काट दीजिए यो दृश्य स्व व्यतिरिक्त दृष्टिको यथा घट देह स्व व्यतिरिक्त दृष्टिक दृश्य ये हो गया अनुमान पक्ष क्या हो जाएगा साध्य हो जाएगा स्व व्यतिरिक्त दृष्टिकत्व क्योंकि जो देह है वही स्व व्यतिरिक्त दृष्टि क है ये शब्द का अर्थ बताएंगे ये पर्वत को बनीमान कहा जाता है जो पर्वत है वही बनीमान है तो इसलिए साध्य बनीमान हो जाएगा क्या क्योंकि बनीमान तो पर्वत है हमको साध्य पर्वत में रहना चाहिए तो इसलिए अगर ये बंधीमान हुआ पर्वत जो है बंधीमान हुआ कभी तो मान में क्या धर्म रहेगा धनवान में क्या रहेगा धन रहेगा अथवा धन उसको कहेंगे तो मान में रहेगा बनी इसलिए साध्य हो जाएगा बंधी अथवा बंधी महत्व भी कहेंगे बंधी महत्व शब्द का अर्थ होता है बंधी मतुक के आगे को तो लगाएंगे तो मतुक से पहले जो है उसी को ही कर देगा जैसे कहने के धनवान धन से मतुक हुआ है आगे उसका आगे को तो जरूर देंगे तो किसको कहेगा धन को कहेगा क्यों धनवान अर्थात जिसके पास धन है जिसके पास धन है तो का अर्थ उसका धर्म धनवान का धर्म क्या है धन इसलिए मतुब के आगे तो लगाएंगे तो मतुब का जो प्रकृति है उसी को कह देगा धनवत्वम ऐसे धूमवत्वम का क्या अर्थ होगा कहीं हम कहेंगे धूमवत्वा कहीं कहेंगे धुआं एक ही अर्थ होगा तो यहाँ कहते हैं स्व व्यतिरिक्त दृष्टिक यहाँ क्या बहु समास हुआ है बहु भी हुआ है कैसे समास करेंगे द्वितीय पद क्या है दृष्टि दृष्टि उसका प्रथम अंत क्या होगा दृष्टा तो कैसे कहेंगे स्व्यति का दृष्टा दो पदों कहना पड़ेगा ना दोनों प्रथमा तो होना पड़ेगा हाँ। पूरा पद कौन हो गया सो व्यतिरिक्त उसका प्रथमांत क्या हो जाएगा सो व्यतिरिक्त उसके आगे क्या है दृष्टा द है इसलिए सो व्यतिरिक्त को हो जाएगा क्या होगा व्यतिरिक्त बस इतना ही समास विग्रह हो गया सो व्यतिरिक्त दृष्टा यश्य विभाषा से समासांक हो जाता तो सो व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त दृष्टा यश्य व्यतिरिक्त दृष्टि का तो सो से व्यतिरिक्त सो से भिन्न अपने से भिन्न दृष्टा है जिसका तो अभी पक्ष क्या है देह देह स्व व्यतिरिक्त देह से व्यतिरिक्त देह का दृष्टा है तो अभी देह रूप पक्ष में स्व व्यतिरिक्त दृष्टिकत्व रह जाएगा क्योंकि देह स्व व्यतिरिक्त दृष्टिक देह अपने से भिन्न के द्वारा देखा जाता है तो स्व व्यतिरिक्त दृष्टा यश्य देह सदेह अभी उसमें क्या रहेगा ये हो गया साध्य ये देह में रह जाएगा तो रहेगा तो कैसे रहेगा कहना वहाँ हेतु रहना चाहिए हेतु क्या रहे पंचमी कहते हैं हेतु लगा करके किन्तु हेतु हो जाएगा दृश्य हम जो धूमाप कहते हैं हेतु हो गया धूमो दृश्य ये तो अनुमान हो गया अनुमान से आप हेतु दिखा दिए साध्य हो जाएगा क्यों हो जाएगा आपको व्याप्ति कहना पड़ेगा इसलिए कहते हैं यो दृश्य सो व्यतिरिक्त दृष्टि कह जो दृश्य होगा वो अपने से भिन्न के द्वारा देखा जाएगा दृष्टांत क्या दे दिए घट अभी देखिए घट में दृश्य तो रहेगा और घट सो व्यतिरिक्त देवतत्व के द्वारा देखा जाएगा तो घट में दृश्य तो भी रहा सो व्यतिरिक्त दृष्टि तत्व भी रहा हमारा भी व्याप्ति कैसे हो जाएगा यत्र यत्र दृश्यत्व व्याप्ति हो जाएगा अभी पक्ष में जाएंगे पक्ष क्या है देह देह में हेतु हेतु क्या है देह में दृश्य तो रह जाएगा तो रहने से वहाँ क्या रहना पड़ेगा रहेगा साध्य रहेगा क्यों कहते दृष्टांत में दिखा दिए जाती जहाँ जहाँ हेतु रहेगा वहाँ वहाँ साध्य रहेगा तो पक्ष में हेतु है तो साध्य रहना पड़ेगा ये सब तर्क लगाने हैं और नहीं तो कहेंगे अयोध्या में तृतीय में राजा हुए थे प्रसिद्ध उनके तीन रानी थे किसी को भी पुत्र नहीं होता था एक याग किए अभी पुत्र हो गए बड़ी रानी थी कौशल्या उसको राम नाम के पुत्र हुआ और दूसरे थे कैके उसका भरत नाम पुत्र हुआ और तीसरे थे सुमित्रा उसको तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे दो आ गए कैसे दो आ गए कहते वो तो चोरू बांटने का समय में ऐसा ऐसा सब हो गया आप सुन लिए सर फिर राम जी आए अब वो बड़े हुए तो फिर ऐसा हुआ गुरुकुल में गए इसको मारे उसको मारे सीता जी का हरण हो गया ले आए फिर राजा हो गया इसमें कितना बुद्धि लगा कहा ये तो चाहे पचास साल का व्यक्ति सुने चाहे पांच साल का सुने तो बराबर हुआ तो ये कथा और ये दोनों में ये अंतर है ये बुद्धि को लगाया बुद्धि को लगा लगा करके बुद्धि को इतना तेज करेगा आपको आया प्रारब्ध दुख देने के लिए बुद्धि इधर तेज है कहेगा तो चलो लड़ते हैं और जो कथा सुनने वाला होगा जैसे प्रारब्ध आएगा वो तो भागते रहेगा <laughs> ये तो डोला रहेगा उनको किस प्रकार की होगा इसलिए ज्ञान मार्ग का एक सब लाभ है यो दृश्य सो व्यतिरिक्त स स्व व्यतिरिक्त दृष्टिको यथा घट तथा च अयम देह तो बनीमान क्यों कहते हैं धूमा यो यो धूमवान स स बनीमान यथा मानसम ठीक है आगे कहेंगे तथा च अयम तो ये पर्वत भी ऐसा है कैसे जैसे मानस है मानस कैसे है धूम वाला है तो बनी वाला है ये पर्वत भी ऐसा ही धूम वाला है तो क्या होना पड़ेगा बनी वाला तथा एवं देह इसको कहते हैं ऊपर नय वाक्य समीप में ले जाएगा अनुमिति का समीप में ले जाएगा उसको ऊपर नहीं कहते हैं परामर्श भी कहते हैं तथा जो अयम देह ये देह कैसा है जैसे तथा जो अयम पर्वत ये पर्वत कैसे है ये पर्वत भी धूमवान है जैसे मानस धूमवान है ये भी ऐसे ही धूमवान है यहाँ कहते हैं तथा तो एवं देह ये देह कैसा है कहते दृश्य जैसे घट दृश्य था ये देह भी ऐसे ही दृश्य हुआ तस्मात घट को व्यतिरिक्त दृष्टि का था इसलिए ये भी देह भी क्या हो जाएगा दृष्टि ये बिल्कुल अनुमान सिद्ध कर रहे हैं उपनय वाक्य कह दिए दृष्टान्त दे दिए व्याप्ति बता दिए हेतु कह दिए

व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचन यथाघट दृष्टांत है दृष्टांत क्यों लेते हैं व्याप्ति को बताने के लिए इसको कहते हैं व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचन इसको उदाहरण कहते हैं तो उदाहरण के आगे क्या आएगा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आगे उपनय तथा तो एवं देह दृश्य आगे क्या वाक्य निगमन तस्मात तस्मात तथा तस्मात पर्वतो बनी इसी प्रकार की तस्मात देह स्व दृष्टि को ये हो गया अनुमान हो गया तो इसलिए जो लोग थोड़ा सा प्रसंग पढ़ेंगे उनको ये सुनने मजा आएगा उनका बुद्धि चलेगा ये कहा क्या है तू है क्या ये है वो है ये सब चलेगा और कथा सुनने वाला कहता वो तो कथा कहने वाला कहता रहेगा ये तो कहीं हमें कर सकता है <laughs> उसको कोई बात नहीं देगा जिनका बुद्धि चलने लगेगा तो बोलने लगेगा जब व्याकरण पढ़ेंगे ये तो चलने लगा है दृष्टि को ये कौ कहाँ से आ गया ये दृष्टि को स्टा कहते हो जाता है ये सब बुद्धि चलती है न्याय व्याकरण पढ़ने से बुद्धि चलती है ये सोलह सौ श्लोक उच्चारण करेंगे मनो बुद्धिस्तथा प्राणो नाहमित्यवधारय ठीक है अभी देह आत्मा नहीं है प्राण नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है तो सब मिलकर के तो हो जाएंगे एक एक ये जो सवारी ढो नहीं पाएंगे किंतु तो चार मिलने से और ढो लेंगे पूर्ण तो रूप से एक रहेगा तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि देहादि पूर्व रूप से कहेगा देहादि समूह से आत्मा तो एक एक तो नहीं हुआ तो चारों मिलकर के आत्मा हो जाए तो सिद्धांति भागयती चारों मिलने पर भी नहीं हो जाएगा एक जड़ तो चेतन हो जाएगा नहीं होगा किन्तु तो चार जड़ मिल करके नहीं होंगे सिद्धांति कह रहे सभी जड़ है वो कैसे चेतन हो जाएंगे संघातोपि तथा नाह संघातोपि तथा निपुणं सम्प्रधारय निपुणं सम्प्रधारय सर्वालोपि तथा नाः निरीक्ष्य विलक्षणम् द्रष्टारमुमानेन निपुणं सम्प्रधारय तथा सङ्घातोऽपि अहं न इति दृश्य विलक्षण दृष्टारम अनुमान निपुणम संप्रदाय आगे तो ठीक है तथा संघात भी अहम न अहम संघात भी मैं नहीं हूँ संघात का समूह समूह भी मैं नहीं हूँ किसका किसका समूह देखो ये चारों का संघात भी मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ तथा संघातो भी अहम न इति दृश्य विलक्षण द्रष्टारम दृश्य से विलक्षण है दृश्याद विलक्षण विलक्षण विरुद्ध लक्षण दृश्य दृष्टा इनका लक्षण विरुद्ध है एक जड़ है चेतन तो दृश्य विलक्षण द्रष्टारम क्या व्यक्ति है द्रष्टारम आकार किस सूत्र से आएगा वो प्रथम है पूर्व

क्लस्टर होने के बाद कम आएगा तो इसको सर्वनाम स्थान हो जाने से ऑक्सीजन से चेंज होगा ऑक्सीजन तदस्कारम अनुमान निपुणम संप्रधार अनुमान से इसको निपुणम निपुणम अर्थात कुशल होकर के निपुणम यथाशत तथा संप्रधार संप्रदाय सम्यक प्रकर्षण धारे बुद्धि में निश्चय कर लो तथा निश्चय तो कर लिया किंतु फिर जब चोट लगा अब फिर तो हम वही गंगू बन गया फिर ब्रह्म हो गया था फिर चोट लगा तो फिर गंगू हो गया कहते इस प्रकार के निपुणम निपुणम अर्थात दृढ़ करते निश्चय करना अनुमान से मैं दृश्य विलक्षण हूँ ये संघात जो है वो सब दृश्य ही है मैं इसे भिन्न हूँ इस प्रकार का निश्चय करो ठीक है तथा आत्मा दृष्टि के पवित्रम आह आत्मा ही दृष्टा है उसे क्या हुआ कहते हैं ये सब संघात में नहीं हूँ आत्मा ही दृष्टा है तो उसे क्या होगा कहते दृश्य विलक्षण में हूँ इसे निश्चय कर मैं आत्मा हूँ दृश्य तो से मैं भिन्न हूँ इससे करना जितना जितना हमारा प्रारब्ध का दुख क्षय होता जाएगा उतना उतना ये सब निश्चय दृढ़ होगा इसलिए प्रारब्ध जितना जल्दी हमारा क्षय हो जो तपस्या इत्यादि सब किया जाता है उसमें प्रारब्ध क्षय हो हमारे जीवन में क्योंकि जब तक तो प्रारब्ध में दुख बचा रहेगा तब तक ये आएगा नहीं क्योंकि दुख बचा है भोगने के लिए और आपको ज्ञान हो जाएगा मैं इसे अलग हूँ फिर आपका दुख हो पाएगा तो इसलिए जब तक तो दुख बचा रहेगा ये होगा नहीं ज्ञान होगा नहीं अगर आपका पुण्य बचा है सुख बचा है तो ज्ञान हो सकता है क्योंकि आगे तो आनंद रहेगा नहीं दुख बचा है तो नहीं होगा तो दुखों को भोगना है और दुखों को भोगना है तो हम खूब ठंडी में जाकर के गंगा जी में और गर्मी में जाकर के पत्थर के ऊपर कहते हैं तुमको काम सीखो तो कहेंगे ठीक है तुम हम दिन में बारह घंटा राम राम जपो करेंगे कहीं तो ये मन का हुआ तो इस देह मन बुद्धि इसमें सबसे ऊंचा कौन है बुद्धि इसलिए हम बुद्धि को लेकर के खूब दुख भोगेंगे क्या कहते कि ये पढ़ो वो पढ़ो इसको समझो ये पंक्ति लगाओ ये नहीं लग रहा है चलो उसको पूछो इसको पूछो जैसे बुद्धि का काम है तो अभी हमको बुद्धि से दुख हो रहा है पर बुद्धि ये पंक्ति नहीं बता पा रहे ये तो क्या अर्थ होगा जिनको बुद्धि से दुख होगा उनका काम जल्दी होने वाला है आज इसको शरीर से दुख हो रहा है तो वो तो पशु के बराबर ही पड़ा हुआ है तो शरीर से नहीं मन से नहीं बुद्धि से नहीं तो बुद्धि से दुख कैसे होगा क्या बुद्धि न लगने तो से तभी जाकर के शास्त्र के पीछे पड़े रहने से कामयाब हो जाता जिनको समझ में नहीं आता तो अन्य से मार्ग में पड़ रही है अन्य अन्य से दुख भोगते नहीं तो उनको बात समझ में नहीं आए कि सबसे ऊंचा है बुद्धि इसलिए बुद्धि को लेकर के साधन करें समझ में जब आ जाता है तो बुद्धि को लगा करके ही साधन इस सप्ताह तो दस श्लोक उच्चारण करेंगे कह दिया गया कि अनुमान है ना तद संप्रदाय अनुमान से निश्चय कर दीजिए ये पूछते हैं टीका में कि तद अनुमान की अपेक्षा है हम अनुमान क्या है तो अनुमान पदार्थ तो क्या है अभी इतने सारे अनुमान दिया गया अभी पूछता है कि अनुमान तो क्या है उसके लिए कहते हैं पंचावय अनुमान विचार विधि अनुमान में पांच अवय होता है उसको अभी दिखाते हैं देहेन्द्रियादयो देहेन्द्रियादयो प्रतीक्षमा

आनादि व्यापृति क्षमा स्वम इति अवधारय जिसका सन्निधि मात्रेण केवल उपस्थिति मात्र से देह इंद्रियादय देह इंद्रियादय भावा भाव अर्थात पदार्थ आनादि व्यापृति क्षमा सो अहम जिस सूर्य का विद्यमान मात्रता से सारे प्राणी कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं पहले वो सूर्य दृष्टा है वो सूर्य आकर के कहता है आप ये करो आप वो करो आप वो करो किन्तु वो केवल उपस्थित तो हो गया तो सभी प्रभुत्व हो गए तो इसको कहते हैं सन्निधि मात्र उसमें कोई कर्तित्व तो नहीं है सन्निधि मात्र यश सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रियादयो भाव आदि व्यापृति क्षमा देह इंद्रिय इत्यादि से पदार्थ देहेन्द्रियादयो देहश्च इंद्रिया च क्योंकि एक और चार मिलकर के कितने हो जाएंगे पाँच हो जाएंगे तो एक और चार चार कौन सा वचन होगा अब मिलकर के जब पाँच हो जाएंगे सौ वचन होगा देह आगे तयो कहाँ आदय आदयो तो ये सब तो देहेन्द्रिया देहेन्द्रियादय देह इंद्रिय आदि जिनका कौन और आगे कौन है प्राण मनोबुद्धि ये सब ये सब भाव पदार्थ आनादि व्यापृति क्षमा व्यापृति व्यापार स्त्रियां तीन होने से व्यापृति और भय होने से व्यापार हानादि व्यापार हान त्याग ये पदार्थों को हमने त्याग कर दिया पदार्थों को ग्रहण कर लिया इसको बदलता है हान उपादान उपादान ग्रहण हान त्याग आन में इसको व्यापार कर लेते हैं क्षमा क्षमा समर्था जिनके सन्निधि मात्र से देह इंद्रिय मनोबुद्धि इत्यादि हानादि व्यापार करने के लिए समर्थ हो जाते हैं वो ही मैं हूँ तो किसी का सन्निधि से देह इंद्रिय सब कार्य करते हैं मेरा सन्निधि से करेगा वही मैं हूँ तो ये ये रहने पर ही ये सब कार्य होगा अधिष्ठान विद्यमान है तभी जाकर के कार्य हो पाएगा कहते हैं इसलिए कहते हैं कि अधिष्ठात्री देवता गंगाशास्त्रम का भगवान अभिनव चंद्रेश्वर वो है तो फिर नाटक चलता रहेगा सो हम इति अवधारय ऐसा निश्चय करो टीका में देह शब्द न स्थूल सूक्ष्म शरीर शरीरम धर्मित्व उपाधीयते अन्य ओम